मास पारायण छा प्रारम्भ मुनि कथा पुनीत पुरानी जो गिरिजा प्रति सम्भुबकानि विश्वविदित एक कय देशो सचकेतुतः बसै नरेसु धर्मधर धरीति निधान तेज प्रताप शील बलवान तेहि के जुगल सुत वीरा धाम महा राजधनी जेठ जो आही नाम प्रताप भानु अतताही अपर सुतहि नामा भुजबल अतुल अचल भाई ही भाई ही परम समीति सकल दोष बर वरजित प्रीति सुत सुतहि राज आप गवन बन पुगवन जब प्रताप रवि भय नृप फिरी दुहाई देश प्रजापाल अति वेद विधि कतहु नहीं अघलेश हे मुनि वह पवित्र और प्राचीन कथा सुनो जो शिवजी ने पार्वती जी से कही थी संसार में प्रसिद्ध एक कैकई देश है वहां सत्य केतु नाम का राजा रहता था वह धर्म की धुरी को धारण करने वाला नीति की खान तेजस्वी प्रतापी सुशील और बलवान था उसके दो वीर पुत्र हुए जो सब गुणों के भंडार और बड़े ही रणधीर थे राज्य का उत्तराधिकारी जो बड़ा लड़का था उसका नाम प्रताप भानु था दूसरे पुत्र का नाम अरिमर्दन था जिसकी भुजाओं में अपार बल था और जो युद्ध में पर्वत के समान अटल रहता था भाई भाई में बड़ा मेल और सब प्रकार के दोषों और छलों से रहित सच्ची प्रीति थी राजा ने जेठे पुत्र को राज्य दे दिया और आप भगवान के भजन के लिए वन को चल दिए जब प्रताप भानु राजा हुआ तो देश में उसकी दुहाई फिर गई वह वेद में बताई हुई विधि के अनुसार उत्तम रीति से प्रजा का पालन करने लगा उसके राज्य में पाप का कहीं लेश भी नहीं रह गया नृप कारक सचिव सयाना नाम धर्म रुचि सुक्र समाना सचिव सयान बंधु बल वीरा आप प्रताप पुंज धीरा सेन संग चतुरंग अपारा अमित सुभट सब समर जुझारा बिलो कि राव हरिशना अरु बाजे गह गहे कहे तू कट कई बनाई सुदिन साधी नृप चले बजाई जहाँ तहाँ परी अनेक लड़ाई जीते सकल भूप बरियाई दीप भुज बल लल दंड छाड़ी नृप है सकल अवनि से ही काला एक प्रताप भानु महिपाला स्वस विश्व करिबाहु बल निजपुर की प्रवेशु अर्थ धर्म कामादि सुख सेवई समय नरे राजा का हित करने वाला और शुक्राचार्य के समान बुद्धिमान धर्म रुचि नामक उसका मंत्री था इस प्रकार बुद्धिमान मंत्री और बलवान तथा वीर भाई के साथ ही स्वयं राजा भी बड़ा प्रतापी और रणधीर था साथ में अपार चतुरंगिणी सेना थी जिसमें असंख्य योद्धा थे जो सब के सब रण में जूझ मरने वाले थे अपनी सेना को देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और घमा घम नगाड़े बजने लगे दिग्विजय के लिए सेना सजाकर वह राजा मुहूर्त साधकर और डंका बजाकर चला जहां तहां बहुत सी लड़ाइयां हुई उसने सब राजाओं को बलपूर्वक जीत लिया अपनी भुजाओं के बल से उसने सातों द्वीपों को वश में कर दिया और राजाओं से दंड अर्थात कर ले लेकर उन्हें छोड़ दिया संपूर्ण पृथ्वी मंडल का उस समय प्रताप भानु ही एकमात्र चक्रवर्ती राजा था संसार भर को अपनी भुजाओं के बल से वश में करके राजा ने अपने नगर में प्रवेश किया राजा अर्थ धर्म और काम आदि के सुखों का समयानुसार सेवन करता था धूप प्रताप भानु बल पाई काम धेनु भय भूमि सुहाई दुख बरजित प्रजा सुखारी धर्म सुन्दर नारी सचिव रुचि हरि पद प्रीति नृपहित है तु नीति गुरसुर संत करहि देवा करई तरा नृप सब सेवा भूप धर्म जे वेद बखाने सकल करई सादर सुख माने दिन प्रति दे विविध विधि दाना सुनै शास्त्र बर वेद बापी खूब तडागा सुमन बाटिका सुन्दर भवन सुर भवन सुहाई सब तीरथ विचित्र बनाए जहाँ लगी कहे पुराण श्रुति एक एक सब जाग बार सहस्त्र सहस्त्र नृप किए सहित अनुराग राजा प्रताप भानु का बल पाकर भूमि सुंदर काम धेनु अर्थात मन चाही वस्तु देने वाली हो गई उनके राज्य में प्रजा सब प्रकार के दुखों से रहित और सुखी थी और सभी स्त्री पुरुष सुंदर और धर्मात्मा थे धर्म रुचि मंत्री का श्री हरि के चरणों में प्रेम था वह राजा के हित के लिए सदा उसको नीति सिखाया करता था राजा गुरु देवता संत पितर और ब्राह्मण इन सब की सदा सेवा करता रहता था वेदों में राजाओं के जो धर्म बताए गए हैं राजा सदा आदर पूर्वक और सुख मानकर उन सबका पालन करता था प्रतिदिन अनेक प्रकार के दान देता और उत्तम शास्त्र वेद और पुराण सुनता था उसने बहुत सी बावलियां कुएं तालाब फुलवाड़ियां सुंदर बगीचे ब्राह्मणों के लिए घर और देवताओं के सुंदर विचित्र मंदिर सब तीर्थों में बनवाए वेद और पुराणों में जितने प्रकार के यज्ञ कहे गए हैं राजा ने एक एक करके उन सब यज्ञों को प्रेम सहित हजार हजार बार किया ृदय न कच्छु अनुसन्धान भूप विवेकी परम सुजान करज धरम करम मन बानी वासुदेव अर्पित नृप ज्ञानी चढिबरबाजि बार एक राजा मृगया कर सब साज समाजा बिंध्या चल गभीर बन गया मृग पुनीत बाहु मारत भयऊ फिरत विपिन नृप दीख बराहू जनु बन दूरे ग्रसी ग्रसिराहु बड विधु मुख माही मनहु क्रोध बस उगिलत नाही कोल कराल दसन छबि गाई तनु पीवर अधिकाई घुर घुरात है आरो पाए चकित बिलोकत कान उठाए नील मही धर शिखर समा देखी विशाल बराह चपर चले है सुट के नृप हा कि न हो निबाहु राजा के हृदय में किसी फल की कामना न थी राजा बड़ा ही बुद्धिमान और ज्ञानी था वह ज्ञानी राजा कर्म मन और वाणी से जो कुछ भी धर्म करता था सब भगवान वासुदेव को अर्पित करते रहता था एक बार वह राजा एक अच्छे घोड़े पर सवार होकर शिकार का सब सामान सजाकर विंध्याचल के घने जंगल में गया और वहां उसने बहुत से उत्तम उत्तम हिरण मारे राजा ने वन में फिरते हुए एक सुअर को देखा दांतों के कारण वह ऐसा दिख पड़ता था मानो चंद्रमा को ग्रस कर मुंह में पकड़कर राहु वन में आ छिपा हो चंद्रमा बड़ा होने से उसके मुंह में समाता नहीं है और मानो क्रोधवश वह भी उसे उगलता नहीं है ये तो सुअर के भयानक दांतों की शोभा कही गई है इधर उसका शरीर भी बहुत विशाल और मोटा था घोड़े की आहट पाकर वह घुरघुराता हुआ कान उठाए चौकन्ना होकर देख रहा था नील पर्वत के शिखर के समान विशाल शरीर वाले उस सुअर को देखकर राजा घोड़े को चाबुक लगाकर तेजी से चला और उसने सुअर को ललकारा कि अब तेरा बचाव नहीं हो सकता आवत देखी अधिक रव बाजी चले उबराह मरुत गति भाजी तुरत कीन नृप सर संधाना मही मिल गया बिलो कत बाना तकि तकि तीर महीस चलावा करि छल सुवर शरीर बचावा प्रगट तदुरत जाय मृग भागा ऋषभ भूप चले संग लागा गया गहन बराहु जहनाहिन गज बाजनिबहु अति बन विपुल कलेसु तदपि न मृग मग तजयिनरेसु गोल विलोकि भूप धीरा भागी पैठ गिरि गुहा गभीरा अगम देखि नृप अति पचिताय फिरे उरे भुलाई खेद खिन्न क्षुद्धित तृषित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 राजा तक तक कर तीर चलाता है परंतु सुअर छल करके शरीर को बचाता है वह पशु कभी प्रकट होता और कभी छिपता हुआ भाग जाता था और राजा भी क्रोध के वश उसके साथ साथ पीछे पीछे लगा चला जाता था सुअर बहुत दूर ऐसे घने जंगल में चला गया जहां हाथी घोड़े का निवाह अर्थात गमन नहीं था राजा बिल्कुल लकेला था और वन में क्लेश भी बहुत था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 पानी के बिना बेहाल हो गया फिरत विपिन आश्रम एक देखा कहाँ बस नृपति कपट मुनि बेशा जासुदेश नृपलीन छड़ाई समर सेन तज गय आई समय प्रताप भानु कर जानी आपन अति समय अनुमानी गय न ग्रह मन बहुत गलानी मिलान राज नृप उर्मारी ऋसारिरं राजा विपिन बसई तपस के साजा समीप गवन नृप चीन्हा यह प्रताप रवि तब राव तृषित नहीं सो पहचाना देखे सुबेश जाना जाना तुरगते कीन् प्रणामा परम चतुर न कहे नाम भूपति तृषित बिलोकिते सर्वरुदीन दिखाई मज्जन पान समेत हय कीन्ह नृपति शाय वन में फिरते फिरते उसने एक आश्रम देखा वहां कपट से मुनि का वेश बनाए एक राजा रहता था जिसका देश राजा प्रताप भानु ने छीन लिया था और जो सेना को छोड़कर युद्ध से भाग गया था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 श्रम सकल सुखी नृप निज आश्रम तापस गय आसन दीन अस्त रवि पुनि पुनितापस बोले उ तो तुम बन फिरा बनु अकेले सुंदर जुबा जीव हेले चक्रवर्ती के लक्षण तोरे देखत दया लागियति मोरे नाम प्रताप भानु अवनी साता सुसचिव मैं सुनहु मुनीसा फिरत आहे रे पर भुलाई बड़े भाग देखे पद आई हम कहाँ दुर्लभ दरस तुम्हारा जानत हो भल कछु निहारा कह मुनितात निसात अंधियारा जो जन सतरी नगरु निशा घोर गंभीर बन पंथन न सुजान। बसहु आजु अस जानम्ह जायु होत बिहान तुलसी भवितव्यता तैसी मिलई सहाय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 पुनि बोले उमृदु गिरा सुहाई जान पिता प्रभु कर मुनि सुत सेवक जानी नाथ नाम निज कहा बखानी तेहि न जान नृप ही सो जाना, भूप सुहृद सो कपट सयाना वैरि पुनि क्षत्रि बल बलकीन चहाई निज का काजा मुझि राज सुख दुखित अराती हवानल इव सुल गई छाती सरल बचन नृप के सुनी काना वयर संभारी हृदय शाना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 जे विज्ञान निधाना तुम सारिखे गलित अभिमाना सदा अपना पौ दुराए सब विधि कुशल कुबेश बनाए ते कहा ही संत श्रुति तेरे परम किञ्चन प्रिय हर भिखारी भिखारिय गेहा भूत विरञ्चिव हि सन्तेहा ज्योषितोषि तव चरण नमामि मो पर कृपा स्वामी सहज प्रीति भूपति विषय विश्वास विशेषी सब प्रकार ही अपनाई बोले अधिक स्नेह जनाई सुनु सति भाव कहाऊ महिपाला यहाँ बसत बीते काला अब लग मोहिन मिले को मैं न जनाऊ का हूँ लोकमान्यता अनल सम तुलसी तुलसी देखि भूल भूलहि मूढ न चतुर सुंदर के की पेखो बचन सुधा हसन रहे राजा ने कहा जो आपके सदृश विज्ञान के निधान और सर्वथा अभिमान रहित होते हैं वे अपने स्वरूप को सदा छिपाए रहते हैं क्योंकि कुवेश बनाकर रहने में ही सब तरह का कल्याण है इसी से तो संत और वेद पुकार कर कहते हैं कि परम अकिंचन अर्थात सर्वथा अहंकार ममता और मान रहित ही भगवान को प्रिय होते हैं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 प्रभु जानत सब ही जनाए कहु कवनि सिद्धि लोक जाए तुम सुचि सुमति परम प्रिय मोरे प्रीति प्रतीति मोहि पर तोरे अब जोतात तो ही दारुण दोष घट मोही जिम जिम ताप कथय उदा तिम नृपही उपज विश्वासा देखा स्वबस कर्म मन बानी, तब बोला तापस नाम हमार एक तनु भाई, सुनि नृप बोले पुनि सिरुनाई नाम कर अर्थ बखानी मोहि सेवक अति आपन जानी आदि सृष्टि उपजी जब ही तब उत्पत्ति मोरी नाम एक तनु है ते ही देहन धरे बहु कपट तपस्वी ने कहा इसी से मैं जगत में छिप कर रहता हूं श्रीहरि को छोड़कर किसी से कुछ भी प्रयोजन नहीं रखता प्रभु तो बिना बताए ही सब जानते हैं फिर कहो संसार को रिझाने से क्या सिद्धि मिलेगी तुम पवित्र और सुंदर बुद्धि वाले हो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 जनिचर करहु मन माही सुत तपते दुर्लभ कछु नाही तपबल ते जग सृजई विधाता बल विष्णु भये परित्राता बल सपबल करहि संघारा सपते आगमन कछु संसारा भय पहि सुनि अति अनुरागा कथा पुरातन कहे सो लागा करम धर्म इतिहास अनेका करै निरूपन विरति विवेका उद्भव पालन प्रलय कहानी कहसि अमित आचरज बखानी सुनि महीप तापस बस भयऊ आपन नाम कहन तबलय कहतापत नृप जानऊ तो ही किन्हेहू कपट लाग भल मोही सुन महेश असनीति जह तह नाम न कह नृप मोहि तो ही पर अति प्रीति सोई चतुरता विचारी तब हे पुत्र मन में आश्चर्य मत करो तब से कुछ भी दुर्लभ नहीं है तप के बल से ब्रह्मा जगत को रचते हैं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 तुम्हारी वही चतुराई समझकर तुम पर मेरा बड़ा प्रेम हो गया है नाम तुम्हार प्रताप दिने सा सत्य के तू तब पिता नरेसा गुरु प्रसाद सब जान राजा कहियन आपन जानिया जा तव सहज सुधाई प्रीति प्रतीति नीति निपुनाई उपज परी ममता मन मोरे कहो कथा निज पूछे तोरे अब प्रसन्न मैं संशय नाही मागु जो भूप भाव मन माही सुनि सुबचन भूपति हर गहि पद विनय की नाना कृपा सिंधु मुनि दर्शन तोरे चार पदारथ करतल मोरे प्रभु ही तथापि प्रसन्न बिलो की मागी अगम असो की जरा मरण दुख रहित तनु समर जित जन को एक छत्र रिपुहीन मही राज कलप सत हो तुम्हारा नाम प्रताप भानु है महाराज सत्य केतु तुम्हारे पिता थे हे राजे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 एक बेप्रकुल छाड़ी महिषा तप बल बेप्र सदा बरियारा तिन्ह के कोपना को रखवारा जो बेप्रह बस करहु नरेसा तो तू बस विधि महेशा चलन ब्रह्म कुल सन बरियाई सत्य का उठाई उपशाप बिनु सुनु सुनु पाला तोर नास नहीं कवने हु काला हर शिवराव बचन सुनितासु नाथ न हो मोर अब नासु तव प्रसाद प्रभु कृपा निधान सर्व सर्वकाल कल्याण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 नास तुम्हार सत मम वाणी यह प्रगटे अथवा द्विज श्रापा नास न सोर सुनुभानसाप आयन धन तव न हि जो हरिहर कोपहि मन माही सत्यनाथ पद गही नृप भाषा द्विज कोप कहु को राखा राखै गुर जो कोप विधाता गुर विरोध नहीं को जगत्राता जो न चलब हम कहे तुम्हारे हो नास नहीं सोच हमारे हे कहीं डर डर पत मन मोरा प्रभु महिदेव श्राप अति घोरा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 कौन रक्षा कर सकता है यदि ब्रह्मा भी क्रोध करें तो गुरु बचा लेते हैं पर गुरु से विरोध करने पर जगत में कोई भी बचाने वाला नहीं यदि मैं आपके कथन के अनुसार नहीं चलूंगा तो भले ही मेरा नाश हो जाए मुझे इसकी चिंता नहीं है मेरा मन तो हे प्रभु केवल एक ही डर से डर रहा है कि ब्राह्मणों का शाप बड़ा भयानक होता है वे ब्राह्मण किस प्रकार से वश में हो सकते हैं कृपा करके वह भी बताइए हे दयालु आपको छोड़कर और किसी को मैं अपना हेतु देखता ही नहीं सुनो नृप विविध जतन जग माही कष्ट साध्य पुण्य हो ही के नाही अह एक अति सुगम उपाय तहाँ परंतु एक कठिनाई मम आधीन जुगति नृप सोई मोर जाब तव नगर न होई आज लगे अरु जबते भयऊ काहू के ग्रह ग्राम गया जा तब अकाजू बनाई जस आजू सुनि महिष बोले मृदुबानी नाथ निगम असनीति बखानी बड़े स्नेह लघुन पर करही, गिरि निज सिरनि सदा तृण धरहि जलधि अगाध बह पेनु संतत धरनी धरत सिरु अस कही गहे नरेश पद स्वामी हो कृपाल मोहिला दुख सही प्रभु सज्जन दीन दया तपस्वी ने कहा हे राजन सुनो संसार में उपाय तो बहुत हैं पर वे कष्ट साध्य हैं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 सत्य कौ भूपति सुनु जगनाहिन दुर्लभ कछु मोही अवसि काज मैं करिहाँ तोरा मन तन बचन भगत मोरा जोग जुगुति तप मंत्र प्रभाव फल तब जब करिय दुराओ जौन रेस मैं करो रसोई तुम परु सहु मोहि जान न कोई सो जोई भोजन करई सोई सोई तव आयसु पुनि पुनिन्ह के गृह जै जो तव बस होई भूप सुनो सो उपाय रचहु नृप एहु संवत भरि नित नूतन द्विज सहस सत बरेहु सहित परिवार। मैं तुम्हारे संकल्प लगी दिन ही करबी जेवनार राजा को अपने अधीन जानकर कपट में प्रवीण तपस्वी बोला हे राजे सुनो मैं तुमसे सत्य कहता हूं जगत में मुझे कुछ भी दुर्लभ नहीं है मैं तुम्हारा काम अवश्य करूंगा क्योंकि तुम मन वाणी और शरीर तीनों से मेरे भक्त हो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 कोई है सकल विप्र बस तोरे करी है विप्र होम मख सेवा ते ही प्रसंग सहजे ही बस देवा और एक तो ही कहाऊ लखाऊ मैं यही बेशना आओ बकाओ तुम्हारे उपरोहित कहूँ राया हरियाणब मैं करी निज माया तप बलते ही करी आप समाना रखी हूँ यहाँ बरस परवाना मैं धरितासु देशु सुनु राजा विधि तोर सब काजा गणित बहुत सयन अब कीजे मोहि तोहि भूप भेट तीजे मैं तप बल तो ही तुरग समेता पहुँच हूँ सोवत ही निकेता मैं आऊब सोई बेशुधरी पहचाने हो तब मोही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 चल ज्ञानी श्रमित भूप निद्राति आई सो किमि सो सोच अधिकाई काल के तुन सिचर सहावा जेहि सुकर हो नृपही भुलावा परम में तापस नृप केरा जान सोति घनेरा ते के सुत अरुदस भाई खल अति अजय देव दुखदाई प्रथम प्रथमहि भूप समर सब मारे विप्रसंत सुर देखि दुखारे तेहि खल पाछिल संभारा तापस नृप मिली मंत्र विचारा जहि रिपुछय सोई रचनि उपाऊ भावी बसना जान जानकछुरा रिपु तेजसि अकेल अपि लघु करि गनिय अजहु देत दुख सिर अवशेषित राहु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 कथा सुनाई जा तू धान बोला सुख पाई अब साधे उर्पु सुन हो नरेसा जो तुम कीन मोर उपदेशा परिहरी सोच रहा हूँ तुम सोई बिन औषध विधि खोई कुल समेत रिपु मूल बहाई चौथे दिवस मैं मिलब आई तापस नृपही बहुत परितोषी चला भानु प्रताप हि बाजि समेता माझ निकेता नृपहि नारी पहि सयन कराई हय ग्रह बांधे सी बनाई राजा के उपरोहित ही हरि लय उ बहू लैराखेसि गिरिखो महु मति भो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 देखे भवन अति अचरजुमाना मुनि महिमा मन महो अनुमानी उठे उगवाहि जहि जान नरानी कानन गया बाजि पुर नरना युग भूपति आवा घर घर उत्सव बाज बधावा उपरोहित ही देख जब राजा चकित बिलोक सो मेरी सोई काजा जुग समरे पहे गए दिन तीनी कपटी मुनि पद रहमतिरि समय जानी उपरोहित आवा नृपहि मते सब कहि समझावा हर्ष उपहिचानि गुरु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 बिजन बहु गनि सकै न को विविध मृगन कर तेहि महो विप्र मा सुखल साधा भोजन कहो सब विप्र पद पखारी सादर बैठाए परुसन जब ही लाग महिपाला भय आकाश बानी काला विप्र वृंद उठी उठी ग्रह जाहू है बड़ी हानि अन्न जन खाहू भयौ रसोई भूसुर मासु सब द्विज उठे मानि विश्वासु भूप मति मोह भुलानी भावी बसना आव मुखबानी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 बोलाई घाल लिए सहित समुदाय ईश्वर राखा धर्म हमारा जय हसित समेत परिवारा संबत मध्य नास तब हो जलदाता न रही कुल कुलखो नृप सुनिश्राप विकल तासा भय बहोरी बर गिरा का विप्रहु श्राप विचारि नदी नहि अपराध भूप क्षुकीहा चकित सब बेप्रसुनि नभवानी भूप गया जहाँ भोजन खानी तहनासन नहीं सुआरा फिर उराओ मन सोच अपारा सब प्रसंग सुरन सुनाई त्रसित परे अवनीय कुलाई भूपति भावी मिटै नहीं जदपि न दूषण कि अन्यथा हो नहीं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 पृथ्वी पर गिर पड़ा हे राजन यद्यपि तुम्हारा दोष नहीं है तो भी होनहार नहीं मिटता ब्राह्मणों का शाप बहुत ही भयानक होता है यह किसी तरह भी टाले टल नहीं सकता अस कही सब मही देव सिधाए समाचार पुरलोगन पाए दूषण दैवहि देहि हंस काग किय जेहि उपरोहित हि भवन असुर तप पतहि खबर जनाई खल जहाँ तहाँ पत्र पठाए पछाये भूप सब धाये सबायेरहि नगर निशान बजाई विविध भाति नित हो लराई जूझे सकल सुभट करनी बंधु समेत पर उद्रिप धरनी सत्य के कुल को नहीं बाचा विप्र श्राप हो साचा असाचा रिपुजिति सब नृप नगर बसाई निजपुर गवने जय जसु भरद्वाज सुन जाहि जब होई विधाता बाम धूरी मेरु सम जनक जम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 भूप अनुज नामा भयौ स्वुम्भकर बल बलधामा सचिव जो धरम रुचि जासु भयौ विमात्र बन्धु लघुतासु नाम विभीषण यही जग जाना विष्णु भगत विज्ञान निधाना रहे जे सुत सेवक नृप के रे भय निशाचर घोर घने रे काम रूप खल जिनस अनेका कुटिल भयंकर विगत विवेका रहित हिंसक सब पापी बरनी न जाहि विश्व परितापी उपजे जदपि पुलस्त्य कुल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 विविध तपति निहु भाई परम उग्र नहि बरनी सो गो गय निकट तप देखि विधाता मागहु गहु बर प्रसन्न बिनती पद गहे दस सीसा बोले बचन सुना हो जगदीसा हम काहू के मर ही न मारे बानर मनुज जाति दुई बारे मस्तु तुम्हारा बड़ ब नहा मैं ब्रह्मा मिली देहि वर दीन्हा पुनि प्रभु करण पहि गय बिलो की मन विस्मय भयो जो एहि खल नित आहारू ही सब उजारी संसारु सारद प्रेरिता केरी गए विभीषण पास पुनी कहे पुत्र बर माग ते मागे भगवंत पद कमल अमल अनुराग तीनों भाइयों ने अनेकों प्रकार की बड़ी ही कठिन तपस्या की जिसका वर्णन नहीं हो सकता उनका उग्र तप देखकर ब्रह्मा जी उनके पास गए और बोले हे तात